हो गया था हम्म। किंग लक्षण गुण के न बदनातीत अपेक्षा आह किम लक्षण किम लक्षण यस्य गुण से सगुण किम लक्षण कैसे लक्षण वाले गुण किससे बांधता है इस अपेक्षा अनुपर कहते तत्र तत्र सत्वम निर्मल प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च तेषु सत्वादिना मध्य सत्व प्रकाशकम अनामयम निर्मलवाद निर्मलवाद प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञन ज्ञान संज्ञन च बध्नाती हे अनग सत्व प्रकाशकम अनामय प्रकाशक है उपद्रव रहित निर्मल होने से उपद्रव रहित मल रहित है रजगुण तमगुण होता है मल रहित होने से प्रकाशकम अनामय सुख संज्ञन ज्ञान संज्ञन च बध्नाती सुख के साथ संग ज्ञान के साथ संग उससे बांधता है सत्य गुण भी टीका में निर्धारणार्थतया सप्तमी व्याचस्ते तत्र यथस्थ निर्धारण सूत्र तेसु मध्य अथा तेसा मध्य सत्वादिना मध्य तत्प्रकार तत्र सत्वादीना सत्व से तापत लक्षण उच्यते सत्वादिना मध्य तीनों पहले सत्व का लक्षण कहते तत्र पार्षिता तत्र निर्मलत्वाद उच्चते तत्र तत्र निर्मलत्वाद स्फटिक मणिव प्रकाशकम अनामयम निरुपद्रव्यम सप्तम निबध्नादि तत्र निर्मलत्वाद निर्मल होने से स्फटिक मणिव जैसे स्फटिक मणि मन रहित है तो प्रकाशकम अनामयम अनामयता अमय तो रोग उपद्रव तद रहित निरुपद्रवम उपद्रव रहित प्रकाशिक अन्य गुण से उपद्रव नहीं सत्व निबद्धनाती सत्व गुण बांधता है टीका में पुनः सत्व अनुवाद मात्र पहले तो तत्र सत्व आदि नाम आगे आ गया फिर तत्र निर्मल दो बार तत्र है पुनः तत्र अनुवाद मात्र केवल अनुवाद है अधिकर्तन पहले अर्थ कह दिया निर्मलत्व स्वच्छत्व आवरण वारण क्षमत्व निर्मल स्वच्छ सत्संग से आवरण भारण के समर्थ है आवरण नहीं होता है प्रकाश है जैसे काश आदि सत्य आवरण नहीं कर सकता है आवरण वारण कर देता है तस्मात प्रकाशकम आवरण नहीं सत्संग से प्रकाशकम प्रकाश है क्या चैतन्य अभिव्यंजकम सप्त गुण चैतन्य का अभिव्यंजक है मित्र निर्मलम सत सुख से अभिव्यंजकम इतर्थ कौन से निर्मलम सत निर्मल है उपद्रव रहित है सुख से अभिव्यंजक सुख से अभिव्यंजकम कहीं अति नहीं अति नहीं व्यंजक दिया है सुख से अभिव्यंजकम प्रकाश के सुख का भी सुख के अभिव्यक्त होती चैतन्य का अभिव्यंजक है सत्वगुण केन द्वारा न तदात्मा निबदनाती इसे पूछती ये सत्वगुण आत्मा को बांधता है किस प्रकार किसके द्वारा कथम ये प्रश्न कथम उसका उत्तर सुख संज्ञे न सुख संज्ञे न सुख के साथ संग ठीक है सुख संगे न बध्नाती उत्तरम सुख संग से बांधता है सत्वन तदेव विघ्नति कैसे सुख संग है में सुखी विषय भूत से सुख से विषय ने आत्मनि संसाधनम मृषय सुख संजनम सुख होने पर कोई मानता सुखी अहम अहम सुखी ऐसा मानता है सुखवान <coughs> सुखी का तो सुख वाला सुख हो गया विषय विषय तो सुख से विषय नहीं विषय चिद्र को आत्मा क्षेत्र ज्ञ होता है विषय आत्मा है को प्रकाश प्रकाशक और बाकी सब विषय क्षेत्र के अंतर्गत है है विषय है विषय है सुख प्रकाश्य प्रकाश्य प्रकाश्य का धर्म प्रकाश में नहीं रहते हैं प्रकाश सुख है आत्मा में नहीं है किन्तु विषय ने आत्मा ने संशय सापादन मृत्यु विषय आत्मा चिद्र को प्रकाश है विषय में आत्मा में विषय हो तो सुख को संश्लेष संबंध का आपादन करना झोटा ही मिलता है सुख संजनन ये सुख संजन अहम सुखी सुख बार सुख को अपने में आरोप करना सही था अविद्या वही अविद्या है ठीक है मैं सुखी सुख से अभिव्यंजक सत्व परिणाम अत्र मुख्य सुख से मुख्य सुख से अभिव्यंजक सत्व परिणाम अत्र विषय भूतम सुखम उच्यते मुख्य सुख है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म आनंद रूप सुख है वही मुख्य है जैसे ज्ञान भी एक मुख्य अर्थ एक को होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मुख्य अर्थ ज्ञान है ब्रह्म ही है और घट ज्ञान पट ज्ञान ज्ञानम जातम घट ज्ञान जातम पट ज्ञान नष्टम यह जो ज्ञान है ये गौण है वस्तु तो ज्ञान नहीं है ज्ञान तो ब्रह्म ही है चिद रूप ही ज्ञान है यह अंतकरण के परिणाम वृत्ति वो सत्व गुण का परिणाम होने से वो ज्ञान का अभिव्यंजक होता है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकरण परिणाम होने पर उसी वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती चैतन्य का अभिव्यंजक ज्ञान का अभिव्यंजक होने से वो ज्ञानवत भान होता लगता है तो वृत्ति में ज्ञानत्व प्रयोग होता है उपचार गौण प्रयोग गौण ज्ञान होगा इसी प्रकार सुख भी एक मुख्य एक गौण है मुख्य सुख है आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म जो चिद रूप ज्ञान है वही आनंद है सचित आनंद ब्रह्म है ब्रह्म ही मुख्य आनंद है मुख्य आनंद का अभिव्यंजक होता है अंतकरण परिणाम सत्य गुण परिणाम मुख्य सुख से अभिव्यंजक सत्य परिणाम सत्य गुण परिणाम अंतगुण का परिणाम ही वृत्ति है मुख्य सुख आनंद सुख का अभिव्यंजक जैसे ज्ञान का अभिव्यंजक ऐसे सुख का भी अभिव्यंजक अत्र विषय संभूतम सुखम उच्चते वो विषय अंतगण परिणाम सत्यगुण का परिणाम सत्यगुण अंतगुण परिणाम विषय विषय जो है सुखम कहा गया और संशय आपादन उसको विषय अंतगुण परिणाम सत्वगुण विषय है उसको विषय आत्मा में संशय से संबंध आपादन करना कैसे संशय में विषय देते मृत्य ही वो मिथ्या ही संबंध वास्तव मित्र संबंध है ही नहीं आध्यात्मिक संबंध दृश्य के धर्म दृष्टा में है ही नहीं उसका जो संबंध आरोप का आरोप होता है आध्यात्मिक संबंध चंद्र में जल में चंद्र का प्रतिबंध दिखता है लगता है चंद्रवास में संबंध हो गया चंद्रवास में संबंध चंद्र का संबंध जल में है नहीं वो मिथ्या है आध्यात्मिक संबंध है इसी प्रकार इसमें सुख का आध्यात्मिक संबंध आरोप करता है अंतगण धर्म का सुख अंतगण है उसका आरोप करता है आत्मा में सुखी हम कारण ऐसा है और चैतन्य का अभिव्यंजक हो गया अंतकरण प्रति सुख उसमें चैतन्य के साथ अंतगण तादात्म अभ्यस्त हो गया एक रूप हो गया होने से उसी का अंतकरण का धर्म दिखता है आत्मा में अध्यस्त आत्मा में जैसे जल में चंद्र प्रतिबिंबित हो गया और उसमें चंद्र तो आरोप होने से जल के कंपन चंद्र में दिखता है इसी प्रकार प्रतिबिंब आत्मा में अंतकरण के धर्म दिखता है अंतकरण धर्म सुख वो तो दिखता है प्रतिबिंबित आत्मा में तो उसमें संबंध कल्पना करते दिखता है आध्यात्मिक किमित विशेषण संघ से वस्तु संभव ये जो संघ है दोनों का संबंध सुख के साथ आत्मा का जो संबंध है सुख संज्ञ न बदना दे सुख के साथ उसका संबंध संग आत्मा के साथ सुख का संबंध होगा तो आत्मा के साथ सुख का संबंध मुख्य क्यों नहीं होगा मुझसे व विशेषण क्यों दिया संघर्ष वस्तु तो संभव संघर्ष वास्तव बहुत होता है ऐसा संक्रांत से कहते सा अविद्या यही अविद्या है वस्तुतः सिद्ध रूप विषय के साथ विषय का संबंध हो नहीं सकता है यह संग दृश्य और द्विक अलग अलग है दोनों का संबंध हो नहीं सकता है एक सत्य है दृक और विषय असत्य मिथ्या <clears throat> सत असत दोनों का संबंध हो नहीं सकता है एक सत्य विद्यमान चिद रूप आत्मा और विषय असत अध्यस्त अध्यस्त का अधिष्ठान के साथ वास्तव संबंध ही नहीं अध्यस्त है मरुभूमि जल मरुभूमि के साथ जल का संबंध नहीं उसको अध्यस्त संबंध कहते आध्यासिक संबंध वो अध्यस्त का संसर्ग अधिष्ठान में आरोपित होता है अधिष्ठान के भी अभ्यास के अध्यस्त के साथ संसर्ग आरोप होता है दोनों का संसर्ग का यही नहीं मरुभूमि जल सुक्ति और आरोपित रजत दोनों का तादात में एकत्र संबंध का ही नहीं वो अध्यस्त है संग से वस्तु तो संबंधित से अविद्या वही अविद्या है ठीक है नन्न इच्छा संगो अभिनिवेश एक अर्थ तथा इच्छा दे आत्मधर्मता किम अविद्या इति आशंक्य न्याय मत के अनुसार कहते इच्छा तो संग इच्छा किसी विषय की इच्छा करते उसमें संग आसक्ति तो अभिनिवेश एक ही अर्थ है इच्छा आदि आत्मा का धर्म है किम अभिदय अभिदय में की इच्छा सुख दुख ज्ञान सुख आत्मा में होता है इतिहास के मन धर्म स्वाद इच्छा से नात्म धर्म है तो ये सब मन धर्म मन का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं न ही विषय धर्म विषय में भवती विषय का धर्म विषय में नहीं आता है हम जिस घट पट दंड को देखते हैं उसका रूप अपने में नहीं है विषय है घटपट आदि उसका धर्म है गंध रूप रस आदि वो विषय दृष्टा में नहीं है घट नील हो पीत हो अपने में नहीं आता रूप विषय धर्म विषय में नहीं आता है इसी प्रकार ये मनोधर्म है विषय धर्म है आत्मा में नहीं ठीक है नहीं इच्छा आदि अनात्म धर्म से किम प्रमाण इच्छा आदि आत्मा का धर्म नहीं अंतगण का धर्म अनात्मा का धर्म इसमें क्या प्रमाण इसे आशंका आदि धृत्यंतम क्षेत्र से विशेष धर्म उत्तम भगवता भगवान ने स्वयं कहा इच्छादि धृत्यंतम महाभूता निहंकार लेकर इच्छा देश संघात चेतना धृति ये सब धृत्यंत क्षेत्र का धर्म विषय है क्षेत्र उसका धर्म का क्षेत्र के जानने वाला विषय क्षेत्र होता विषय उसका धर्म ये आदि कहा गया भगवान ने कहा तस्य आत्मधर्म तो असंभाव फलित श्रुते भी आया सारो मन है वो जितने सब है मन है सुख दुख आदि सब मन है मन उसका उपादान कारण होने से उसके साथ एक समानाधिकरण प्रयोग होता है ये आत्मधर्म नहीं तसे आत्मधर्म तो असंभव है फलितम निष्पन्न नाशमी तो अविद्या स्वकीय धर्म भूतया विषय विषय अविवेक लक्षण या असात्म भूते सुखे संजय सप्तम सत्यमेव करोते असुखी नम सुखी नम ऐसा करता है सत्वगुण अविद्या से ही अविद्या एवं वास्तव नहीं सत्य धर्म को तो सत्वगुण अपना धर्म सत्व का धर्म है सुख सत्य गुण ही क्या करता है सख्य धर्म भूत या अविद्या उसका विषय विषय अविवेक लक्षण है विषय विषय का अविवेक रूप ही स्वरूप ही विषय विषय विषय सुख विषय आत्मा दोनों का अविवेक रूप ही यही अविद्या असात्म भूते सुखे जो कि आत्मभूत नहीं आत्मस्वरूप नहीं सुखे संजय व सत्वगुण सुख में संग करता जैसे संजयती का सत्यम एवं करोती सत्य जैसे करता है असुखी न सुखी न करो करोती आत्मा सुखी नहीं सुख वाला नहीं आत्मा स्वयं सुख है सुखी सुख वाला नहीं असुखी न सुख आश्रय नहीं आत्मा में ये तो सुख आदि क्षेत्र का धर्म है सुख वाला नहीं है असुखी नम सुखी नम ही करता है सत्य गुण जैसे सुख संगे तथा ज्ञान संगे ज्ञान संगे टीका संजय तीव सप्तम संजय थी क्रिया का कर्ता कौन सप्तम सत्य गुण ही संजय थी युवकार प्रयोग हेतु महा युवकार क्यों कहा अविद्या वास्तव नहीं युवकार अविद्या से ही करता है अतो अविद्या अविद्या से ही संजयती तथा वस्तु तो नात्म संबंध तथा तो संबंधी अंतराभावाद अस्वतंत्र आत्मधर्म तम आपाद्य दृष्टत्म वो आत्मधर्म वो आत्मा विद्या है अविद्या स्वकीय धर्म भूतया स्वकीय आत्मा का धर्म है अविद्या का वस्तु तो न आत्म संबंध अभिजय के साथ आत्मा का संबंध नहीं अभिजय से अधिष्ठान में आत्मा के साथ संबंध नहीं फिर भी संबंध अंतर अभाव का आश्रय कोई दूसरा हो नहीं सकता है और अस्वतंत्र अस्वातंत्र स्वतंत्र नहीं है जैसे संख्या लोग मानते स्वतंत्र ऐसा नहीं इसलिए आत्मधर्मत्म आपाद्य आत्मधर्म को आपादन करके आरोप करके दृष्टत्व आचस्ती अभिजय दृष्ट है दिखा जाता है आत्मा के द्वारा प्रकाश स्वकीय धर्म होते वृत्तिमत अंतकरण से विषयत्व आत्म साधक विषय भी तद अविवेक रूपा अविद्या तत्स्वरूप वृत्तिमत अंतकरण अंतकरण है वृत्तिमत अंतकरण के परिणाम को वृत्ति कहते वृत्ति वाला हो गया अंतकरण अंतकरण का परिणाम वृत्ति वृत्ति वाला अंतकरण है वृत्ति वाला जो अंतकरण है ये विषय है सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति ज्ञानाकार घटाकार पटाकार जितने वृत्ति वृत्ति वाला अंतकरण ये विषय आत्मा उसका प्रकाशक है आत्मा में साधक न आत्मा है साधक प्रकाशक विषय का प्रकाशक आत्मा है तद विषय भी वो विषय हुआ आत्मा विषय हुआ तद विषय भी तस्य आत्मा न विषय भी विषय विषय नहीं सुख वृत्ति वाला अंतकरण विषय तद अविवेक रूप अविद्या वही अविवेक विषय अलग है अंतकरण वृत्ति मात्र अंतकरण और विषय होता आत्मा विषय और विषय दोनों भिन्न है दोनों का अविवेक रूप ही अविद्या है दोनों का एक एकत्र ग्रहण होता अविवेक के कारण पृथक ज्ञान नहीं हुआ अलग अलग इसलिए अभेद भ्रम हो जाता है ये अविद्या अविवेक रूप अविद्या तस्वरूप तस्वरूप विषय विषय आकार वही अविद्या है जो की विषय विषय अविवेक लक्षण विषय विषय का अविवेक ही अविद्या है यथोक्ता अविद्या महात्म्यमिदम यद अस्वरूपे अत धर्म च शक्ति संपादन मिथ्या जो अविद्या कहेगी उसके महात्म है यह अस्वरूपे अत धर्म च जो अपना स्वरूप नहीं उसका धर्म नहीं उसमें शक्ति संपादन संबंध कराना अविद्या से संबंध दिखता है अस्वरूप अस्वात्म भूते सुख संदेश तदेव स्फुटयती सप्तम एवं करोती ये अर्थ सप्तम एवं करता है प्रकारांतरण सप्त से निबंधन निबंधत्व आह सप्त से निबंधत्व निबंध बंधन करने वाले तथा ज्ञान संज्ञा ज्ञान संज्ञा भी सत्वगुण मानता है ज्ञाते अनिनयती ये ज्ञान है सप्त परिणाम ज्ञान ये सप्त परिणाम ज्ञान है सत्वगुण का परिणाम है घटाकार पटाकार वृत्ति है उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है उसे लोग ज्ञान कहते हैं तेन ज्ञानी अहम यदि विपरीताभिमान है न सत्व आत्मान थी और ज्ञानी अहम ऐसे विपरीत अभिमान ज्ञान तो अंतकरण का धर्म हो गया ज्ञान अंतकरण वृत्ति अंतकरण का परिणाम है ज्ञान अंतकरण में है किन्तु ज्ञानी अहम अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान को लेकर के आत्मा में उसका आरोप करते ये विपरीत अभिमान हो सप्तम आत्मा सत्व गुण आत्मा को इसे बंधन में समझ करके ज्ञान के साथ समझ आरोप करके बांधता है ज्ञान ज्ञानम सुख साहचर्या क्षेत्र से अंतकरण से धर्म न जैसे सुख क्षेत्र का धर्म है ऐसे सुख के साथ साहचर्य सुख के साथ करने से ज्ञान भी क्षेत्र का है अंतकरण का धर्म आत्मा का नहीं <clears throat> विपक्षीय दो समाज आत्मा का मानेंगे आत्मधर्म से संज्ञानुपति और बंधानुपति आत्मा यदि तो आत्मा के साथ उसका संदर्भ क्या है आत्मा ही वास्तव से धर्म हो जाएगा बंध ही नहीं होगा स्वाभाविक न प्राप्त जो स्वाभाविक होगा तथा स्वतः संयोग स्वतः संबंध ही स्वाभाविक तद द्वारा बंधे और स्वाभाविक यदि धर्म होकर बंधन होगा तो स्वाभाविक धर्म तो की निवृत्ति नहीं होगी तो बंधे की निवृत्ति क्यों नहीं होगी तो निवृत्ति अनुपते न आत्मधर्म तो निवृत्ति नहीं होगी बंध तो मेरी मोक्ष नहीं होगा इसलिए आत्मधर्म नहीं आत्मा का स्वाभाविक धर्म होगा तो क्या नहीं हो सकता नहीं स्वभाव भावान व्यावर्ते तो उसने बतरवे भाव पदार्थ के स्वभाव की निवृत्त नहीं होती जैसे द्रव्य उसने यदि ये संग ज्ञान आदि आत्मा का धर्म होगा तो उसकी निवृत्ति कभी नहीं होगी तो मुख्य कैसे होगा इसलिए आत्मा धर्म नहीं ज्ञानेश्वरियादो अपनी क्षेत्र धर्म संघ से पूर्व आविद्य कथन सूचित ज्ञान ऐश्वर्यादो भी ये क्षेत्र का धर्म है उसमें संग दोनों का संग आरोप करना अविद्यक तो अविद्या के कार्य दिखाते सुख इव ज्ञानादो संगो मंतव्य हे अनग अभ्यसन सुख में जैसे आत्मा का संग अविद्यक है ऐसे ज्ञान आदि में भी का संबंध वास्तव नहीं पापादि दोष हीन से अत्र शास्त्र अधिकारी दोष ही अनग कह करके संबोधन करते अनग अगय पाप अविद्यमान अगो पाप यस्य अनगय तो पापादि दोष रही नश्य पाप राग द्वेष आदि रहित ही शास्त्र में अधिकार ज्ञान के लिए इसे अनुग्रहित है इसे संबोधन रजस्तरी किंग लक्षण कथम पुरुषम निबत्नादि इतिहास संख्या तो रज क्या लक्षण वाला है कैसे पुरुष को बंधन में डालता है इस आशंका रज रजो रागात्मक विद्धि कृष्णा संग समुद्भव तन्निबध्नाति कौंतेय कर्म संगे न रजो रागात्मक संग समुद्भव रज तृष्णा संग समद्भव रागात्मक विद्धि तत् कर्म संगेन निबद्धना हृदय रागात्मक तृष्णा संग समद्भवन तृष्णा असंग से समद्भवन रागात्मक विधि रागात्मक तत्नम देहिनम आत्मान कर्म संगेन निबद्धना कर्म के साथ संग करके बांधता है रजो रागात्मकम टीका में रजते संसृजते अन पुरुष विच्छेदी रागो असो आत्मा अस्ति रागात्मकम रजो जानी रजे रजते अनेन पुरुष रज रज संसृजते अनेन पुरुष दिशि राग राग आत्मा ऐसे राग आत्मा ऐसे स रागात्मकम रागात्मक का विग्रह हो गया रागो आत्मा अश्वित रागात्मकम आत्मा के स्वरूप राग है जिसका स्वरूप रागात्मक हुआ राग क्या है जिसके द्वारा पुरुष संबंध होता है कर्ण में रजत राग राग है स्वरूप जिसका रागात्मक रज को जान गुण रागात्मक रागात्मक अथवा गुणों के द्वारा ही रज्यते संस्कृत होता है रंजनाथ रागो रंजनाथ राग रंजन करता है संबंध करता है जैसे गैरी का अधिवत रागात्मक विधि यानी कि रज को गैरी का जैसे गेरु वस्त्र में देते हैं वस्त्र में रंजन राग होता है इसी वजह रजोगुण भी राग उसके द्वारा संबंध होता है ऐसे समझ आगे तृष्णा संग समद्भावम ठीक है समुद्रवती अस्मात समुद्भव समुद्रवती अस्मात समुद्र जिससे उत्पन्न होता है समुद्भाव तृष्णा आसंग से तृष्णासंग तृष्णा और आसंग हुआ सर्व दोनों का कारण है जिससे उत्पन्न होता है उसको समुद्भव का उत्पत्ति का कारण तृष्णा असंग के समुद्भव है अर्थात उत्पत्ति कारण रजगुण से तृष्णा होती है और आसंग होता है यदि विग्रह गृहित कार्य द्वारा रजो विवक्षु उसका कार्य हो गया रजोगुण का कार्य तृष्णा और आसंग कार्य के द्वारा रजो को करने के लिए तृष्णा संग और अर्थभेद रजो का दो कार्य हो गया एक तृष्णा और एक आसंग ये दोनों की उत्पत्ति कारण रजोगुण है तृष्णा संग समुद्भव उत्पत्ति कारण तो तृष्णा संग समुद्भव भाष्य में अभी तृष्णा आसंग में क्या भेद है तृष्णा अप्राप्त अभिलाष अप्राप्त विषय की इच्छा है तृष्णा आसंग है प्राप्त विषय मनस प्रीत लक्षण संश्लेष जो विषय प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा है और आसंग है आसंग विषय प्राप्त है विषय प्राप्त होने के बाद उसमें प्रीत लक्षण संश्लेष विषय में प्रीति संश्लेष संबंध ये तृष्णा संग समुद्भवम उत्पत्ति कारण रजगुण तृष्णा संग समुद्भवम रजगुण तद रजगुण निबद्धना एक अंत्य कैसे बांधता है कर्म संज्ञेन कर्म संज्ञा कर्म क्या दिष्टा दिष्टार्थ सुकर्म सुसंजनम दिष्ट और अदृष्ट अर्थ का कर्म दिष्ट यह लोक में अदृष्ट स्वर्ग आदि भोग के लिए जो कर्म उसी कर्म है संजन संजन उसमें कैसे तत्परता कर्म संग उसमें आसक्ति तत्पर होकर के कर्म करना तेना निबद्धनाती बांधता है रजोगुना रजो करता है रजो निबद्धनाती किसको देगी न टीका में कर्म संग कहते दिष्टा दिष्टार्थ सु कर्म सुसंजनम अकर्तार में पुरुषम तो अभिमान थी चलता ये संदेह कैसे पुरुष अपना अकर्ता है अकर्ता होने पर भी रजगुण के हाथ में अभिमान कराता है तो अभिमान है ना प्रवर्तित कर्म ही प्रवृत्त कराता है ये रजगुण का कार्य है तमस्त ही किं लक्षण कथम व पुरुषम निबध्नाती तत्राह अभी तम किम लक्षण किस लक्षण वाला है कैसे पुरुष को बांधता है ऐसा संक्रांत से कहते तमस्ती तमस्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्रा अभीस तमनि भारत तमस्तु सर्वदेहिना मोहनम अज्ञानजम विधि तमको अज्ञान जो समझो सर्वदेहिना मोहनम मोह कर तत्म सत निद्रा भी निबद्धनाती आत्मा को प्रमाद आलस निद्रा के द्वारा तमस्वी तम तृतीय गुण सत्र कह गया तृतीय रह गया अज्ञान जन अज्ञान जातम अज्ञान जम अज्ञान से उत्पन्न है नहीं नाम प्रकृति तो आविशेष है तीनों प्रकृति से है सत्रजतम तो तम को अज्ञान जत्व विशेषण क्यों दिया तमस्व अज्ञान जस्व विशेषण तद विपरीत स्वभाव अनापत्ते रीतिमत्व वो विपरीत स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है गुण रज गुण तो अज्ञान से जाते है फिर सत्व गुण ज्ञान का अं, प्रकाश रूप ही ज्ञान ज्ञान को होता है किन्तु अज्ञान तमस अं, तमोगुण तो अज्ञान का जैसे रूप इसी स्वभाव ही रहता है तत्स्वभाव विपरीत स्वभाव को प्राप्त नहीं करते साक्षात अज्ञान रूप ही इसलिए अज्ञान आज जातम का ये सब कुछ अज्ञान कार्य मुह्यत अनित मोहनम मोहन का मोहनम तमगुण मोहनम सर्वदयी जिस मोह के कारण मुह्यत अनित विवेक प्रतिबंधकम विवेक प्रतिबंधक विवेक के लिए तमोगुण प्रतिबंधक तमोगुण अधिक हो विवेक नहीं होता है तमोगुण कम होने से विवेक ठीक होगा सत्यगुण अधिक होने से कार्य द्वारा तमो निर्देश कार्य के द्वारा निर्देश करते है मोहनम सर्वदेही मोहनम मोहकरम अभिवेक कर्म मोह करने अभिवेक करने वाले सर्वदेहीनम सर्वेशम देवता लक्षण मुक्त तमस्व बंधन कर बंधन करने वाले तम दिखाते प्रमाद आलस्य निद्रा भी द्वंद्व समाज से प्रमाद आलस्यम च निद्रा च प्रमाद आलस्य निद्रा आता इनके द्वारा ही बांधता है प्रमाद आलस्य निद्रा उसका भेद देखो टीका में कार्यांतर आसक्तया चिकित्सित से कर्तव्य से अकरणम प्रमाद अन्य कोई कार्य में आसक्त होकर के अब ये करना है कर्तमिष्ट है कर्तव्य है किन्तु उसको नहीं करना प्रमाद ये करना ही करना चाहिए किन्तु अन्य कार्य में आसक्त है अन्य कार्य में आसक्त होने से अभी कर्तव्य से अकरणम प्रमाद अभी कार्यांतरा से तो कैसे सो, सो गया अर्थात बातचीत में लग गया अब मालूम ये करना चाहिए समय भी जप करना चाहिए अध्ययन करना चाहिए चिकित्सित कार्य कर्तव्य वो नहीं कहा बातचीत में लगा है तो वे नहीं करते पढ़ाई में नहीं किया अध्ययन नहीं किया था जप नहीं किया अतः सो लेट गया सो गया कार्यांतर में आसक्त होकर के कर्तव्य चिकित्सित जो कर्तव्य कर्तव्य नहीं करना ये प्रमाद है और आलस्य क्या है निरीहित या उत्साह प्रतिबंध आलस्य निरीहतया निरीहतया यह चेष्टा निरीह निश्चित होकर के उत्साह प्रतिबंध उत्साह का प्रथम आलस्य और लेटा हुआ है और उठना चाहिए तो आलस्य अभी चेता नहीं करी ऐसे पड़ा रहा ऐसे ही आधा घंटे घंटा चला गया ये हो गया आलस्य पहले दूसरे में अन्य कार्य में आसक्त तो हो करके वो केवल आलस्य नहीं अन्य कुछ कर रहा है बातचीत कर रहा है बड़े जोर से तर्क वितर्क चल रहा है अभी करना है हमको कोई कर्तव्य बातचीत में लग गया और तो नहीं किया ये क्या प्रमाण आलस्य तो में क्या निधि बिल्कुल कुछ करना नहीं ऐसे पढ़ाना ऐसे बैठा रहा कुछ भी नहीं करना आलस्य हुआ होता है उत्साह प्रतिबंध उत्साह ये करना चाहिए उत्साह नहीं होता ये आलस्य तो स्वाप क्या है निद्रा है सा भी आत्मान अविकारम एवं विकार आत्मा अविकार ही फिर भी उसको विकार विकार कर देता है तमोगुण टीका में तमो निबद्राती भारत बनता है ओम उत्तरा मध्ये कस्मिन कार्य कस्य गुण से उत्कर्ष तथा उत्ताना कार्य में किस कार्य में किस गुण का उत्कर्ष है तथा पुनः व्यापार संक्षेप उच्य गुण का व्यापार संक्षेप करके एक साथ कहते हैं

रज कर्मणि संजय कर्म में लगाता है तमस्तु ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजय अभी प्रमाद में संजय करता है ज्ञान का आवरण और प्रमाद जनक सुखे साध्य विषय समुत्कृष्ट सप्तमित्या सुख है विषय साध्य उत्कृष्ट होता है सत्य गुण सत्य गुण का साध्य सुख सत्वम सुखे संजयती थी ठीक है थी इसका अर्थ में संशेषयती जोड़ता है सत्व गुण सुख में आत्मा को जोड़ता है आरोपित संबंध कराता है कर्मणि साध्य रज समुत्कृष्ट कर्म के लिए रजगुण उत्कृष्ट होता है रजगुण है कर्म कराने वाले रज कर्मणि है भारत संजयती वर्तते रज कर्मणि क्रियापद जोड़ देना पूर्व में संजयती संबंध कराता है ठीक है प्रमादे प्राधान्यम तमसो दर्शे और तमगुण प्रधान प्रमाद के लिए ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम ज्ञानम आवृत्ति सत्वगुण का क्या कार्य है ज्ञान विवेक है तो उसको ढाक करके आवृत्ति का आचार्य तो तम सेन न प्रमादे संजय अपना स्वरूप आवरणात्मक तम प्रमाद में जुड़ता है प्रमादो नाम प्राप्त करते व्याकरण ये प्रमाण प्राप्त कर्तव्य करना से नहीं करना है प्रमाद तो इतरेतरा विरोधे न सत्वादय गुणा युगपत उत्कृष्यन्ते उत्कृष्यन्ते विरोधेन वा क्रमेण वा इति संदेहाद पृछति इतरा इतरेतर अविरोध है न परस्पर अविरोध होकर के क्या सत्वादि गुण युगपद उत्कृष्ट होते हैं परस्पर विरोध नहीं करे एक साथ सत्व गुण उत्कृष्ट हो जाते हैं एक विकल्प विरोध है ना पहला अविरोध है ना परस्पर अविरोध होकर के क्या सत्व गुण एक साथ उत्कृष्ट हो जाते हैं अथवा विरोध होने से विरोध है ना क्रमेण विरोध होने से एक साथ अथवा क्रमेण विरोध न क्रमेण वा विरोध हो करके एक साथ होता क्रम से ये संदेह से पूछते उत्तम कार्यम कदा कुरबंती गुना ये जो तीन गुणों का कार्य बताया ये कार्य क्यों करते हैं ये पूछते ठीक है सप्तोत्कर्षार्थी नाम इतराभिभवार्थम क्रम पक्षम आश्रित उत्तर एक साथ तीन गुण उत्कृष्ट नहीं होते कोई उत्कृष्ट होगा अन्य को दबा देगा जो सप्त उत्कर्ष होने से ही ज्ञान होता है सुख प्राप्त होता है शांति सत्य गुण का कार्य ज्ञान भी सत्य गुण उत्कृष्ट होने पर विवेक ज्ञान होगा मुमुक्षी को सत्य उत्कृष्ट करने के लिए इतर पदार्थम इतर को रजगुण तमोगुण को दबाना चाहिए इसलिए क्रम पक्ष में आश्रित उत्तर मारा क्रम एक साथ उत्कृष्ट नहीं होते क्रम से क्रम पक्ष आश्रय कर उत्तर देते उच्च रजस्तमश्चाभिभूय सत्म भवती भारत रज सत्म तमस्थ तम सत्वं रजस्तथा सत्वम ये नपुंसक होता है तथा में हो द्वितीय होते हो तो सप्तम होगा रजस और तमस दोनों सकारांत है न पुरुषक तो प्रथमा द्वितीय में एक ही प्रकार है किन्तु इसमें देखना है कौन प्रथमांत कौन द्वितीयांत निश्चय करना है नहीं तो सब एक प्रकार प्रथम वाक्य में सप्तम प्रथमांत है सप्तम रजस अभिभूय भवती सप्तम भवती वर्गते रजस तमस अभिभूय रजस तम होगी कर्म द्वितीयांत रज और तम को दबा करके सप्तम भवती सत्य बढ़ जाता है ये सप्तम प्रशांत हो गया अब दूसरा वाक्य है रज सप्तम तमस्त रज प्रथमांत सप्तम तमस्त द्वितीयांत है रज भवती वर्धते सप्तम तमस्त अभिभूय सप्त को तम को दबा करके रजगुण बढ़ जाएगा द्वितीय वाक्य में रजगुण रज प्रशांत हो गया सप्तम द्वितीयांत अब तृतीय वाक्य में तम सप्तम रजस तथा तथा तम प्रथमांति सप्तम रजस च अभिभूय सप्तम और रजत दोनों द्वितीयांत है तम प्रथमांति पूर्वार्ध में एक वाक्य है उत्तरार्ध में दो वाक्य हो गया पूर्वार्ध में गुण प्रधान है भगवती करता है कर्म है रजगुण तम गुण उत्तरार्ध प्रथम तृतीय पाद में रजोगुण करता है सप्तम दोनों को दबा करके अपने बढ़ जाता है तृतीय तम गुण प्रथमांत है सप्तम रज को दबा करके बढ़ जाता है में रजस तमश्च उभो अपनी अभूय रजस तम दोनों को दबा करके सप्तम भवती भवती का तो उद्भवती प्रकट होता है अर्थात तो वर्धते जो सत्वगुण बढ़ जाते यदा तथा लब्धात्मक सप्तम लब्धात्मक लब्ध आत्मा ऐसी उसका स्वरूप लाभ हो गया प्राप्त हो गया बढ़ गया स्वकार्य जो सत्य गुण अपने स्वरूप क्या है बुद्धि को प्राप्त कर लिया अपने कार्य करेगा स्वकार्य क्या कार्य ज्ञान सुख आदि ज्ञान सुख शांति आदि आरभ है ये भारत श्रद्धा आदि सत्य गुण का कार्य टीका में सत्वाभिवृद्धि में भी विभुनति सत्व का अभिवृद्धि तो कहते तदा लब्धात्मक सत्य ठीक है रजस्तमसो तमसो स्थिरोधान दशायामित यावत सत्य बढ़ता है मित्र क्या है रज गुण तमगुण तिरुधान हो गए कम हो गए चिप गए कम हो जाएंगे तो सत्य गुण बढ़े रजस्व वृद्धि प्रकार तत्कार्य कथे रज वृद्धि का प्रकार उसका कार्य दिखाते है भाष्य में तथा रजो गुण द्वितीय वाक्य रज सप्तम तम से रजो गुण प्रथमांत इसलिए कर दिया रजगुण हृदय प्रक्रांत सत्वम तमस्य अभिभू अभिभूय दोनों को दबा करके बढ़ते यदा बढ़ता है तद अपना कर्म करेगा तृष्णा आदि स्व में आरभते तृष्णा संग तमस्व की विवृद्धि तत्कार्य च निर्दिशति में तमाख्यो गुण तम आख्याय तम नाम का गुण प्रथम तो हो गया तम सप्तम रजस उभो के अभिव्य सत्व रजत दोनों को दबा करके तथे वर्धते तम गुण जदा तथा ज्ञान आवरण आदि स्व में आरभते ज्ञान आवरण प्रमाद आदि में आरभते उत्तर श्लोक त्रय से आकांक्षा दशे आगे तीन श्लोक एकादश द्वादश त्रयोदश तीन श्लोक आकांक्षा दिखाते भाष्यकार भगवान यदा यो गुण उद्भूत भवती तदा तस्य किम लिंगम इति उच्यते अभी देखना चाहिए अब किस में वर्तमान अपने में किस गुना उद्भुत है प्रकट है अधिक है अभी अपने सत्व तो गुण अधिक होना चाहिए कभी रजगुण अधिक होता है कभी तमुगुण अधिक होता है इसको जान जान करके रजगुण तमुगुण को कमाए सत्व तो गुण को बढ़ाए रजगुण तमुगुण है ये हानिकारक सत्व तो गुण बढ़ेगा तो ज्ञान प्रकाश होगा इसलिए जानना चाहिए उसका चिन्ह उद्भूत होती तस्य किम लिंगम क्या चिन्ह है उच्चते टीका में सत्वोद्भव लिंग दर्शनार्थम अनंतरम श्लोकम उत्थापित प्रथम अभी श्लोक एकादश सत्व उद्भव का लिंग दिखाएंगे सत्वगुण वृद्धि का चिन्ह दिखाने के लिए ये श्लोक कहते उच्चते सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सप्तमित्युत यदा अस्मिन देहे सर्वे द्वारेशु प्रकाश ज्ञानम उपजाते तदा सप्तम विवृद्धम विद्यात सप्तम विवृद्धम अपनी विद्यात यदा अस्मिन देहे सर्वद्वारेशु सब उपलब्धि द्वार इंद्रिय में प्रकाश ज्ञान उप प्रकाश ही ज्ञान है उपजाते होता है तदा सप्तगुण बढ़ गया विवृद्धम ऐसा समझे शब्द सर्व द्वार इत्यादि सप्तमी निमित्त नेता है सर्वद्वारेशु सर्वद्वार के द्वारा निमित्त है सप्तमी सर्वद्वार अधिष्ठान में अधिगम है सर्व इंद्रिय के द्वारा उपलब्धि प्रकाश होता है इंद्रिय प्रकाश का साधन भाष्य में सर्वद्वारेशु आत्मन उपलब्धि द्वारा उपलब्धि के द्वारे उपलब्धि इंद्रिय के द्वारा होता है होती है सूत्र आदि सर्वानी करना तेसु सर्वद्वारेशु सब द्वारा इंद्रियों के द्वारा अंतकरण से बुद्धि और वृत्ति ही प्रकाश अंतकरण का परिणाम है वृत्ति अंतकरण से वृत्ति अंतकरण बुद्धि बुद्धि की वृत्ति है परिणाम यही प्रकाश है देह अस्मिन उपजाए देह में होता है तदेव ज्ञान ये वृत्ति का अंतकरण के परिणाम वृत्ति है तत्वगुण का परिणाम यही प्रकाश है ज्ञान है यदा एवं प्रकाश ज्ञानाख्य उपजाए ज्ञान नाम का प्रकाश जब होता है तथा ज्ञान प्रकाश लिंगे न ज्ञानात्मक प्रकाश हो गया चिन्ह उसी चिन्ह से विद्या समझ विवृद्धम उद्भुतम सत्व गुण बढ़ा हुआ सत्यम इति उत का अपी टीका शब्द अपि शब्द पर्याय अतिशय अर्थ अतिशय बढ़ता है सत्व गुण अतिशय बढ़ता है ऐसा समझना और अतिशयन उद्भूत से रजस लिंगमा जो अतिशय उद्भूत सामान्य रजगुण उद्भूत है अतिशयन उद्भूत होने का उसका चिन्ह कहते हैं रजस उद्भूत इदम चिन्हम उद्भूत रज का ही चिन्ह है

लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असम स्पृहा एतानी रजस्वी विवृद्धे जायन्ते हे भरत एतानी रजस्वी विवृद्धे जायन्ते रज बढ़ने पर ही उत्पन्न होते हैं कौन ये लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असम स्पृहा कर्मणाम असमय भाष्य में लोभ लोभ पर द्रव्य आदिशा आध्यात्मिक पर द्रव्य लेने की इच्छा लोभ प्रवृत्ति ही प्रवर्तन सामान्य चेष्टा आरंभ उद्यम कस्य कर्मणाम कर्मणाम आरंभ असम अनुपशम उपशम नहीं होना हर्षराग आदि प्रवृत्ति ये उपशम नहीं हर्षराग आदि प्रवृत्ति असम स्पृहा है इच्छा है सर्व सामान्य वस्तु विषय तृष्णा सामान्य किसी वस्तु विषय इच्छा है तृष्णा है रजसी गुण विरुद्ध एतान लिंगान जाएंगे रज गुण बनने पर ये चिन्ह टीका में उपक्रम पर्याय से आरंभ से विषय पृछती आरंभ आरंभ उपक्रम कस्य आरंभ उसका अवसर कर्म कर्म का आरंभ काम्या निषिद्धा च लौकिका कर्मा विषय से निर्दिशती कर्म है काम्य कर्म भी निषिद्ध कर्म है लौकिक जितने कर्म सबका आरंभ तो रजगुण बनने से यह तो काम्य कर्म करेगा या निषिद्ध कर्म करेगा लौकिक कर्म कुछ ना कुछ कर्म करेगा अनुपम जो दिया है अनुपम असम का अनुपम बाह्य अंत करना नाम इतिशेष असम के साथ कर्म नाम असम अनुपम उपसम होता है इंद्रियों का उपसम नहीं होता है अनुपम बाह्य कर्ण और अंत करना नाम शेष लोभादि उपलम्भात रजवृद्धि बोधव्य भाव जो लोभ प्रवृत्ति कुछ करना कुछ करने के लिए और इंद्र की इंद्र उपशम नहीं हुआ और इच्छा होती समझना रजगुण बढ़ा लोभादि उपलम्बात उपलब्धि के द्वारा रज वृद्धि दिया बोधव्या दिया इति भाव आगे तम गुण विभूति कहेंगे ओ शो मित्र वर्णः